अध्याय प्रथम खंड के द्वितीय मंत्र का कुछ विचार हुआ जिसमें संवर्ग विद्या के लिए भूमिका बनाई जा रही है इसमें उपदेश होना है हिरण्य गर्भ की उपासना वायु की उपासना हम्म, वायु सबसे प्रबल है ऐसा दिखाएंगे उसकी उपासना <clears throat> तो यहां कहानी बनाई थी एक जान श्रुति नाम के राजा है वो एक दिन वो अपने छत के ऊपर में बैठे हुए हैं रात में हंस के रूप में ऋषि या देवता लोग उड़ के आए और हंस के रूप में उड़ के आए तो पीछे चलने वाले हंस ने आगे चलने वाले को कहा भल्लाक्ष भल्लाक्ष कहा मैंने मन दृष्टि वाला ऐसा करके कहा कि राजा के जो अन्नदान आदि के प्रभाव से उत्पन्न जो प्रकाश है तेज है दूलोक तक स्पर्श कर रहा है उसको मत छूना तू छूएगा तो जल जाएगा कहीं वो जला न देगा ऐसा कहा हम्म। तो <clears throat> पहले वाले ने कहा और पहला वाला बोलता है आगे चलने वाला कहता है ऐसा कहने पर आगे चलने वाला बोलता है एक कहना कहते हैं मंत्र है तमूह पर प्रत्युवाच कंबर एनम एक संतम सयुग्वानमिव रैकुम अर्थेति योनुपथम सयुग्वारैक्वैते समूह पर प्रत्युवाच कंबर एनम एतत्सतम सयुग्वानमिवरैक्वमार्थेति योनुपथम सयुग्वारैक्वैते तम आगे वाले चलने वाले में पीछे वाले से कहा तम जो पीछे बोल रहा था इसके पेड़ को मत छूना ऐसा कहा था तो तम माने वो पीछे चलने वाले हमसे वो वह ये दोनों अव्यय हैं इसका अर्थ नहीं है यहाँ पर प्रतिवाचक आगे चलने वाले ने उत्तर दे कहा पर दूसरे ने कहा पहले पीछे चलने वाला कह रहा था आगे चलने वाला बोलेगा प्रतिवाचक उत्तर देता है कहता है कमु अरे अरे संबोधन करके अरे अयाद सो रखा है कम उ अरे ऐसी स्थिति है कम आगे उ आगे अरे ऐसा है या हूं वो लग करके वैकल्पिक प्रकृति भाव होता है भाष्यकार ने प्रकृति भाव दिखाया हुआ है और यहाँ पर वैकल्पिक है यण करके रखा है वो बा सकता है कमु अरे ऐसा है कम उ अरे कम दिव्यांत है किसको ऐसा बोलना चाहिए एतत एनम इस राजा को एनम जान श्रुति राजा इस राजा को एतत कम संतम क्या विशेषता इसके पास है कम संतम क्या होता हुआ ऐसे बात बोलते हो सयुग आनंद को आता ही ऐसा सयुग रैको को समान इसको किस कारण से बोलते हो आगे वाला बोलता है क्या क्या विशेषता इसमें है तुम तो बोल दे कि रहे को जैसा कैसे बोलते हो ऐसा कहा क्योंकि आगे वालों ने ऐसा कहा तो पीछे वाला कहता है यो न प्रथम रहे होती वो कैसा है सही सयुवार कौन है कैसा है पीछे वालों की जिज्ञासा पैदा कराई इसने कि पीछे वाला पूछता है कैसा है वो रेप ये कहा भाष्य में कहते तम एवं उक्तवंतम कि पीछे चलने वाले ने जब ऐसा कहा तुम तो राजा के अन्नदान जनित तेज को मत छूना प्रकाश को मत छूना जब कहा ऐसे कहने वाला जो पीछे चलने वाले हम सबको पर करो अग्रगामी पर का पर प्रतिवाच है जो तो अग्रगामी था आगे चलने वाला हम सब प्रतिवाच कहा क्या कहा अरे क्या बोल रहा है तू अरे ऐसा संबोधन अरे निकृष्ट हो यम राजा ये राजा बहुत तुच्छ है छोटा है बराह का बेचारा राजा कुछ नहीं है कम कम कम ऊ एनम संत क्या गुण की विशेषता के कारण तुम ऐसा बोल रहे हो इसको तेज को मत सुना करके कम ऊ एनम संतम केर महात्मे न युक्तम संतम कम ऊ एनम संतम का अर्थ केर महात्मे न किस विशेषता से युक्त होता हुआ मान करके तुम कर रहे कौन सी विशेषता इसमें है कुछ सही इति कुत्सित आगे चलने वाला पीछे वाले को निंदा करता है कुत्सित कुत्सित कुत्सित करता है निंदा करता है इस बात को एनम एवं सब बहुमानम यथन वचनम अर्थ तुम इस राजा को बिचारे राजा को इतने सम्मान पूर्वक वचन बोल रहा है इस राजा के तेज को मत छूना हाँ। एवं इस प्रकार सब बहुमान बहुत प्रशंसा पूर्वक ये तद वचन आता इस वचन को कहते हो तुम क्या कि इसको तेज को मत सुना प्रकाश को मत सुना ऐसा बोलते हो रैकम युवा सयुवानम सह युगवाना तंत्रिया सह सयुवा रैको तम युवा अर्थ है ना क्या सयुवा रैको के समान तुम मानते कहते हो इसको ऐसा सयुवानम विवाह का अर्थ है सयुवानम <clears throat> गाड़ी के साथ है युगवान माने गाड़ी गाड़ी के साथ होने के कारण सयुगवा द्वितीयांत है सयुग्वाम सयुग्वाम गाड़ी के नीचे रहने वाले रैको के समान माने सयुग्वानम का व्युत्पत्ति है सह युगना गंत्रिया सह वर्तते बहुत समान हाँ। माने गाड़ी के साथ रहता है इसलिए सयुग्वा कहा गया तम सयुग्वानम सह युगवना सह वर्तते सयुग्वा जैसे सपुत्र वैसे सयुग्वा बना शैवा रैक्वा तम विवाहम एवं क्या वो सहयुवा रैक्व के समान तुम इसको कहते हो आगे वालों ने ऐसा कहा माने और माने इसका तात्पर्य अनुरूप अस्मिन युक्त ईदृशम भक्तम ये ये जो अंश ने कहा इस राजा के लिए ऐसा कहा कोई अनुरूप दृष्टांत नहीं अनुरूप नहीं है इतना इतना सम्मान देना इस राजा को यह अनुरूप नहीं है तो शैव वैक्व के समान मानते हो क्या इसको ऐसा कहा अनुरूपम अस्मिन इस राजा के विषय में अनुरूप नहीं इतना कहना इसके तेज को मत सुना ऐसा बोलना अनुरूप नहीं है अनुरूपम अस्मिन अस्मिन राज्य इस राजा अयुक्तम ईदृशम भक्तम ये बोलना ठीक नहीं है तुम इसके तेज को मत सुना तुम्हें जला न दे ऐसा मत बोलना रैक्व रैक्व इत्याय रैक्व के विषय में ऐसा कहना ठीक नहीं अनुरूप नहीं है इतर चाह अब पीछे चलने वाले के मन में उत्कंठा जिज्ञासा पैदा होगी कौन है भाई इतर चाह पीछे चलने वाले करता कहा करना है कहा कहता है यो नु कथम त्वया उच्चते सही हुआ रही कोई की तुमने कहा हुआ जो सही रई को है वो कैसा है वो कथम कैसा है त्वया उच्चते रही को तुम्हारे द्वारा कहा जाता है जो रैको को कैसा है इति गुप्तबंधम ऐसा कहा जब पीछे वालों ने तब भल्लाक्ष आगे चलने वाला बोलता है श्रीण यथा स रई को वो राज्य ऐसा है मैं सुनो जैसा है मैं बताता हूँ रई को विषय में ठीक है कहते हैं संतम एनम प्राणी राजा राजानम अधिकृत प्राणी ये बिचारा ये सही हुआ रह क्योंकि समान बोल रहे हो तुम इसको हाँ, संतम कम एवं संतम इत्यादि था ना उसका अर्थ संतम एवं प्राणी मात्र नम अधिकृत्य बहु सम्मान वचन अर्थ इति कुत्सहित संबंध ऐसा भाष्य की पंक्ति के संबंध ऐसा करना किस विशेषता को लेकर के ये बेचारा प्राणी है ये सामान्य है इस राजा को विषय बना करके इतना सम्मान वाला वचन बोलते होंगे इसके तेज को पत छूना हाँ, जला न दे तुम्हें ऐसा ये तद वचन अर्थ ऐसे वचन कहते हो यदि कुत्साही माने निंदा करता है पहले उचलने वाला हमसे पीछे वाले को ये संबंध करने का तत्र वैधर्म दृष्टांत है वैधर्म दृष्टांत है सयुवा रे को कहा सयुवा रे को कहा ये बेचारा प्राणी वैधर्म दृष्टांत है साधर्म नहीं वैधर्म दृष्टांत वह रैको विवाद था क्या रैको के समान तो मानते हैं इसको क्या ऐसा कहा रैको के बनाते हैं युगम बहती थी युग्य तद बहती रथ युग प्रासंगम सूत्र यद प्रत्यय करता है पागिता के अधिकार में तद बहती रथ युग प्रासंगम ऐसा सूत्र है युगम बहती थी युग्य माने जो जुआ होता है बैल के कंधे में डाला जाता है उसको युग्य बोलते हैं उसको वहन करने वाले को युग्य बोला जाएगा युग्यो बलिवर्द हो युग्य हो जाएगा बलिवर्द बैल अश्ववा अथवा घोड़ा होगा दोनों में से कोई होगा योग्य और <clears throat> बोले अश्याम यदि युवा जिसमें ये हो योग्य जिसमें हो उसको युवा बोला जाएगा कहा योग्य शब्द से मतुप करके युवा बना दिया सकती गाड़ी को कहा युवा योग्य हुआ था बैल या घोड़ा और वो जिसमें है तदासित तस्वीर मतुम लगा करके युगवन बना दिया युगवत शब्द बनाया युगवा बनाया सकती गाड़ी है तया सह बनते वो तो गाड़ी के साथ रहता है जो उसको कहा सयुगवा ये कहा वर्तते थे सयुगवा रैक्व को सयुगवा सयुगवा गाड़ी के साथ रहने के कारण सयुगवा को है नाम रैक्व है बकारो मत्वर्थी है सयुगवा में जो मत सयुगन शब्द में जो बकार दिखता है मतु मतु अर्थ वाला है गाड़ी वाला बैल वाला ऐसा गाड़ी वाला तुम रैक्वम ज्ञान महात्म युक्तम अधिकृत प्रशंसा वचनम तथा कर्मिणम एवं राजानम अधिकृत कथम एवं अर्थ इत्यर्थ पहले चलने वाले के ये कहना तुम तुम ऐसे जो बोल रहे हो रैक्वम ज्ञान ज्ञान महात्म युक्तम अधिकृत बड़े ज्ञान ही करके तुमने महिमा करके विषय बनाया रैक्व को तुम रईकम उस रई जो है ज्ञान महात्मा में उत्तम अधिकृत ज्ञान के महिमा से युक्त जो रई है उसको विषय बनाकर प्रशंसा वचन उसको होने वाली जो प्रशंसा है रईको को मिलने वाली प्रशंसा तथा है ना एक राज्य तो कर्मी है और रईको जो है ज्ञानी है मान पर ब्रह्म के ज्ञानी तो नहीं अपर ब्रह्म ज्ञानी तो है वो उपासक है तो रैको के समान मानते हो मानी यह तुम माने पीछे वाले के लिए आगे वाला कह रहा है तुम तुम ऐसा मानते हो रैको रैको कैसे है ज्ञान महात्मा युक्त है ज्ञान की महिमा से युक्त है रैक उनको विषय बना करके प्रशंसा तो वचन ऐसा प्रशंसा वचन राजा के लिए प्रयोग करने जा रहे हो तुम तथा कर्मणम एकदम राजा नाम अधिकृत्य ये जो कर्मकांडी जो राजा है इसको विषय बना करके कथम एवं कथम एवं अर्थ इस प्रकार कैसे बोलते हो रैतु के समान मानते हो क्या तुम इसको ये कहा उक्तम वाक्यार्थम संकल है सारे वाक्यों का एकत्रित करते हैं अनुरूपम अस्मन युक्तम ईदृशम भक्तुम रैको इव इति अभिप्राय इस राजा के विषय में ये कहना अनुरूप नहीं रैको के समान मानना ठीक नहीं है इतना अच्छा इसी का अर्थ करते हैं अश्विन राज ने बिचारा ये राजा ये छोटा सा राजा कुछ नहीं है अश्विन राज ने इस राजा में धर्म मात्र से केवल धर्मात्मा है ठीक है दान दे रहा है बहुदायी है बहुपाक्य है हाँ, ठीक है धर्मात्मा जरूर है अश्विन राज ने धर्म मात्र से केवल धर्म में रहने वाला है धर्म परायण है इस राजा में न इदम अनुरूपम वचनम ये अनुरूप वचन नहीं है राइको के समान कहना ठीक नहीं है पुनर्विज्ञान पुनर्विज्ञानवती राजा तो ज्ञानवान है ये धर्मात्मा है वो ज्ञानी है वो ज्ञान ज्ञानवान है ज्ञानी है रैक्य ज्ञान पुनर्ज्ञानवती यथोक्तम बचो युक्त <clears throat> अयुक्तम एवं होगा युक्तम एवं अयुक्तम एवं अयुक्तम एवं होगा अश्विन बला के राजनी के नेदम अनुरूपम वचनम ये वचन ठीक नहीं है रैक्य पुनर्विज्ञानवती हाँ ठीक है रैको के लिए ठीक है वचन इस राजा के लिए ठीक नहीं है हाँ, रैक्य पुनर्विज्ञानवती यथोक्तम बचो युक्तम ये वचन तो रैक्यों अनुकूल है राजा के लिए अनुकूल नहीं है ये कहा इतर पृष्ठगामी हंस है जो पृष्ठगामी हंस पूछता है सयुग स्वया उच्चते तुम्हारे द्वारा जो कहा जाता है सभी बार एक को करके सब कथम मुस्या वो कैसा हो कैसा है वो किस प्रकार हो सकता है ऐसा पीछे वालों ने कहा ये कहा अब इसके ऊपर आगे वाला बोलता है रेको के बारे में मंत्र है यथा कृताय विजिताय अधरेया समयती एवं सर्व तद समयती यकिंच प्रजा साधु कुरंती यद यद स्वया ये तदुक्त यथा कृताय अधरेया संयंती एवं सर्व तद अभिशमयती प्रजा साधु कुरंती यद यत्सवेद समया एतद उक्त यथा दृष्टांत है यथा कृताय विजिताय एक पाशा है जुआ खेलने की पाशा है पाशे का नाम कृत नाम का एक आया है अरे पाशा चौरस में होगा चार कोना होगा उसका चौरस होगा एक तरफ है सत्य युग लिखा कृत युग लिखा हुआ है और दूसरे तरफ द्वापर लिखा होगा तीसरे तरफ त्रेता होगा चौथी तरफ कली होगा ऐसा लिखा होगा या एक ही में ऊपर नीचे किया होगा सत्य त्रेता द्वापर कली ऐसा लिखा होगा तो जो सबसे ऊपर वाला है कृत को जीतने पर त्रेता युग मैंने इसको सत्य को जीतने पर कृत नाम के पास है को जीतने पर सभी पास है उसके अंतर्भूत हो जाते हैं क्यों अधिक संख्या में न्यून संख्या समावेश हो जाते हैं या चार होगा और तीन भी होगा दो भी होगा एक भी होगा इसी प्रकार ये तो दृष्टांत है ठीक इसी प्रकार या जो कुछ भी प्रजा है कर्म धर्म धर्म आदि करते हैं वो रैको को उससे उससे बड़ा फल रैको के पास है ज्ञान की महा महिमा है सब रैको को मिल जाता है जैसे हाथी के पैर से दर्शन होने पर सारे पैर का दर्शन हो जाता है सबसे बड़ा पैर है उसका समुद्र स्नान हो गया तो सारे नदी का स्नान हो जाता है तो ज्ञान प्राप्त हो गया तो धर्म का सारा फल मिला हुआ होता है उसको उसी में समावेश है तो बोला चाहते हैं रही को इतना बड़ा है ये कहना चाहते हैं यथा कृताय विजिताय कृताय में एक नंबर टिप्पणी दी हुई है कृताय की कृताय एवं सम कृतम इदुपात या कृताय में एक चतुर्थंत दिखाया हुआ है कृताय विजिताय मंत्र में ऐसा चतुर्थंत दिखाया कृता हाँ, आया नहीं भाष्यकार उसको कृता अलग आया अलग करते हैं कृतनामक पाशा आया माने पाशा ऐसा इसलिए यह टिप्पणी बनाते हैं कृताय एवं सन कृतम कृत लेकर के चतुर्थी बना के कृताय बनाया है तो कृताय कृत अय ऐसा है ये किंतु कृत शब्द के चतुर्थंत बना करके मूल में रखा हुआ दिख रहा है जैसे राम आया वैसे कृताय कृत शब्द का चतुर्थ लगता है उपात तथा चतुर्थंतम इदम अवधि चतुर्थंत है कृत शब्द लेकर के चतुर्थंत बना के बूल में रखा हुआ है ये समझना चाहिए कृताय कहा कि वो बीजदाय जो चतुर्थंत है उसके विशेषण जैसा लगता है ये किंतु ऐसा भाष्यकार ने ऐसा अर्थ नहीं दिया कृत अय कृताय ऐसा है वो सवर्ण दीर्घ करके कृताय बना हुआ है कृत नाम का पाशा अय बने पाशा ऐसा दिखाना चाहते हैं तो यथा कृताय विजिताय अधरेया समयंती जैसे कृत नाम के पाशे को जीतने पर माने सत्य कृत माने सत्ययुग सत्ययुग में तीनों युगों का संख्या समावेश है सबसे लंबी आयु है सत्ययुग की ऐसा है सबसे छोटी आयु कलयुग की है तो जैसे कृतराम के पासा को जीत लेने पर खेल खेलते समय में या संबंधी हम तीनों के तीनों पासे उसी के अंतर्भूत हो जाते हैं क्रेता वाला भी बापर वाला भी कलि वाला ठीक इसी प्रकार एवं इसी प्रकार समझना एवं सयुक्वा रैक्वम ये जो शैव रैव है इसको इस ऋषि को सर्वम तद अभिसमल समय सारे फल उसको प्राप्त हो जाते हैं जितने भी लोग संसार में जो भी काम करते हैं धर्म जितने धर्म कर्म जो भी करते हैं जितना फल इधर होता है उतना फल उसके पास पहले से हो क्यों वो ज्ञान ही है ज्ञान का फल है वहां भाग्य कर्मों का फल है इनके पास सारे फल उसी में अंतर्भूत हो जाते हैं क्योंकि ऐसा ज्ञान की महिमा ऐसी उसके पास क्या है वो फल तो कहा यदकिंच प्रजा साधु कुरबंती सारे प्राणी प्रजा है जो भी अच्छे कर्म करते हैं वो फल सारे उसमें समावेश हो जाते हैं ये फल चोरी नहीं करता रही को किंतु उसके पास बड़ा फल है जैसे समुद्र में सारे नदी समावेश है समुद्र स्नान हो गया तो सारा नदी का स्नान हो गया हाथी का पैर में सभी पैर अंतर्भूत है सबसे बड़ा पैर है उसका सबके पैर आ जाएंगे उसे समावेश हो जाता है ऐसा है यहां तो और लोग भी वही फल प्राप्त करेगा कौन यस्तक वेदा जो वेद्य वस्तु जो रैको ने जिसको जाना है वो वस्तु को जो जानता है तद वेद्यम वेदा जिसको उसको जो जानता अन्य भी प्राप्त करेगा फल रैक को जो प्राप्त किया अन्य भी प्राप्त करेगा यस्तक यस्तद वेदा तत् वेद्यम वस्तु जो जानने योग्य वस्तु जो रैको ने जिसको जाना है वो वस्तु को जो जानता है उसको भी फल मिलेगा कौन है वो तो कहा यद सवेदा वो क्या है जानने योग्य जो रही को जानता है उसको जो जानता हो यद सवेदा स रही को यद वेद जिसको जानता है स मया एतद उगता वही रई को मेरे द्वारा इस प्रकार कहा गया स मैंने रही को मया एतद उगता मेरे द्वारा कहा गया रही को यह है ऐसा बल्लाक्ष ने बताया पीछे वाले के लिए टीका में कहते हैं सर है कोई एक प्रकार तम प्रकार श्रृणु ऐसा प्रतिज्ञा किया भल्लाक्ष ने पूर्व भाष्य के अंत में दिखाया मैंने पीछे चले उन्होंने पूछा कथम वो सही रई को कैसा है पूछा था तो उसने कहा मैं तुम्हें बताता हूँ सुनो कहा था एक इसके संगति लगा रहे हैं स रई को एक प्रकार सियात वो रई को जिस प्रकार हो सकता है तम प्रकार सुनो उस प्रकार मेरे से सुनो आगे चलने वाले हमसे ऐसा बोलता है प्रतिज्ञा ऐसा प्रतिज्ञा करके प्रतिज्ञा करके प्रकार दिदर्शी यशया प्रकार को दिखाने की इच्छा से पहले रिच किया उसके बाद में सन किया माने प्रकार दर्शित इच्छया ऐसा होगा प्रकार दिखाने की इच्छा से ऐसा है दृष्ट धातु से रिच किया फिर आगे जाके सन किया दो प्रत्यय है एक प्रकार दिखाने रैको में क्या विशेषता है वो विशेषता दिखाने की इच्छा से दृष्टान्त महा इसलिए दृष्टांत देता है वो आगे चलने वाला हमेशा दृष्टांत देता है यथा कृता इत्यादि कहा यथा लोके लोक में देखा ही पड़ता है व्यवहार में ऐसा आता है यथा लोके कृता अय या प्रथमांत है अय कृतो नाम अय कृत नाम का एक अय है द्यूत समय प्रसिद्ध जू हाँ, खेलते समय का एक है प्रसिद्धि है द्यूत समय प्रसिद्ध है चतुरांक चार अंक वाला है वो बाकी दूसरा होगा एक आय होगा तीन अंक वाला त्रेता एक होगा दो, अंक वाला द्वापर तो एक होगा एक अंक वाला कली ऐसे नाम होंगे पास में चार अंक वाला है प्रसिद्ध है वो कृत नाम का आय है पास आय माने पासा युवा खेलने के साधन स यदा जयती उस कृतनाम जब जीतता है कृतनाम के पास ने जीत लिया स माने उस कृतनाम का आया है सयदा जयती द्वितीय जब जुआ में जीतता है तो प्रवृत्ताराम तस्मय विजिताया जुआ के लिए प्रवृत्त हुए जितने भी लोग थे उस कृतनाम के पास को जो जीत लेता है तो क्या होगा तस्मय विजिताया उसको जीत लेने पर कृतनाम के पास को जीतने वाले के लिए तदर्थम इतरे द्वित्री एक अंक अधरे माने दो अंक तीन अंक तीन अंक दो अंक एक अंक जो नीचे वाले अंक है अधरे माने नीचे वाले अंक है जो माने जिसका नाम है त्रेता द्वापर कलिनामा त्रेता एक का नाम त्रेता है एक का नाम द्वापर है एक नाम कली है और जो कृत नाम का है कृत कृत कृतयुग बोलते हैं सत्ययुग सत्य नाम का पास है समयंती सबके सब उसी में समाहित हो जाते हैं माने कृत नाम के पास को जीतने पर सभी जीते जाते हैं सारे का फल उसी में समावेश है संगत समयंती माने संगत छनते उसी में एक हो जाते हैं मिल जाते हैं अंतर्भवती कहा संयमती का अर्थ दे संगठन का अर्थ अंतर्भवती उसमें अंतर्भूत हो जाते हैं सारे चतुरंके कृताय द्वि अंक एक अंक नाम विद्यमान होता है जो तो चार अंक वाला है कृतनाम का आया उसमें त्रिअंक भी और द्वि अंक भी एक अंक भी सबके सब विद्यमान है वहां चार अंक जहां होगा वहां तीन भी होगा दो भी होगा एक भी होगा इसलिए तद अंतर भवंती करते उसी में इसे तस्मिन अंतर भवंती उसमें अंतर तद अंतर तद में तस्मिन उसमें अंतर्भूत हो जाते हैं यथा अयम दृष्टांत जैसे तो दृष्टांत हो गया जैसे कृतनाम के पासे को जीत लेने पर सभी पासे अपने अधीन हो जाते हैं ठीक इसी प्रकार यथा अयम दृष्टांत है तो दृष्टांत दिया गया अभी एवं एनम रैक्वम ये जो रैक्व है कृताय स्थानीय है एवं रैक्वम कृताय स्थानीय कृताय स्थान में बैठा हुआ है रैक्व बहुत बड़े स्थान पर है रैक्व त्रेतादि अयस्थानीय सर्वम जो त्रेतादि अयस्थानीय सारे के सारे प्रजा के किया हुआ जितने पुण्य कर्म होंगे साधु कर्म होंगे त्रेतादि स्थानीय सर्वम तद अभी समय समय की अंतर भवती रहती का वो सबके सब फल रैक्व के फल में समाहित हो जाते हैं रैक्व में समाहित हो जाते हैं किम तत् क्या है वो फल कहा यदकिंच लोके सर्वा प्रजा साधु शोधन धर्म जात में कुरंती जो कुछ भी प्रजा वर्ग मैं अच्छे काम करते हैं धर्म करते हैं जो भी करते हैं वो सब उसका फल रैको में समावेश हो जाता है क्यों उसके पास ज्ञान की महिमा है बाकी तो कर्म से होने धर्म तो कर्म है और वो ज्ञान है उस रैको के पास माने पर ब्रह्म का ज्ञान तो ना अपर ब्रह्म ज्ञानी है वो उपास अपर ब्रह्म ज्ञानी है ज्ञान आई तस्य फले सर्व प्राणी धर्म फलम अंतर्भवती यही अर्थ है उसके फल में रैको के पास जो साधना है उसका जो फल है उसके पास उसके फल में रैको के साधन के साधना के फल में सारे प्राणियों के साधना का फल समाहित हो जाते हैं तात्पर्य है माने वो ज्ञान ही है बाकी ये कर्म ही है ऐसी स्थिति सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञान एक समाप्त गीता में ऐसा कहा है कर्मों का फल सारे के सारे ज्ञान के फल में अंतर्भूत है ज्ञान का फल एकदम बड़ा है विशेष है ये दिखाया है दिखा तथा इसी प्रकार तथा अन्योपि कश्चित यस्तद वेद्यम दे रहा उस वेद्य वस्तु को जो अन्य भी कोई जानता हो तो वही फल मिलेगा उसको भी अन्य कोई जानेगा हाँ, उस वेद्य जो जानने योग्य वस्तु है उसको जो जानेगा अन्य कोई वही फल उसको भी मिलेगा हाँ, किम तद वेद्यम वो वेद्य क्या है स रैको वेद जो रैको को जिसको रैको जानता है वही वेद्य है जिस वस्तु को जानने से इतना बड़ा फल वाला बना हुआ है रैको किम वेद्य में प्रश्न आया तो स को वेद वो रैको को तो जानता है वेद्य क्या है किम तद ये प्रश्न हुआ यदि वेद्यम स को वेद जो वेद्य रय को जानता है उसको जो अन्य भी जानता है तो उसको भी फल मिलेगा कहा तद वेद्यम अन्यो भी वो वेद वो जो रई को जिसको जानता है वो वेद्य वस्तु अन्य व्यक्ति भी कोई यदि जानता हो तो तम अपनी सर्व प्राणी धर्म जातम तब फलम चैको विवाह अभिसमयती अंतर कर रहे हैं उसको भी रैको के समान ही सर्व प्राणी धर्म प्राणियों के धर्म वर्ग जितने भी हैं सब तत्फलम से उसका फल भी समय अनुवर्त अनुवर्तते रैको के समान अनुवर्तन करेंगे जैसे रैको के पास चले जाते हैं सारे उसी प्रकार के पास भी पहुंचेंगे यदि उस व्यक्ति को जो रही को जिस व्यक्ति वस्तु को जानता है उसी प्रकार दूसरा भी जानता है तो वही फल मिलेगा उसको स एवं भूतो स मन रही को एवं भूतो मया इस प्रकार का है वो रही को इस प्रकार का है सारे प्राणी का फल उसका फल एक तरफ है प्राणी का फल एक तरफ है फिर भी वो उसका फल समा, उसी में समावेश होता है स माने एवं भूतो को वो जो को है मया स एवं भूतो विद्वान इस प्रकार का जो विद्वान है रैक्व मया एक उक्त एवं उक्त इस प्रकार से मैंने उसको विषय में ऐसा कहा रैक्व के विषय में ऐसा कहा, एवं उक्त रैक्वत सएव कृता स्थानीय भवती इत्यर्थ वो भी क्या होगा कि रैक्व के समान ही कृत अय के स्थान में हो जाएगा कोई रैक्व के जाना हुआ व्यक्ति वस्तु को जानेगा तो रैक्व के समान ही हो जाएगा रैक्वत एवं सएव कृत स्थान में वही कृत एक स्थान में हो जाएगा ठीक है से देखें द्यूत समय आश्रम हाँ। में कहा था द्यूत समय कहा था द्यूत समय मैंने संकेत है जुआ में कोई संकेत होता है दाव पे जो भी संकेत होगा संकेत तद अनुष्ठान का होगा यहां पर समय का अर्थ होगा संकेत अथवा माने उसका अनुष्ठान का जुआ का अनुष्ठान का समय दोनों हो सकता है ये ना द्यूत विद्यायाम ये जति जिसके द्वारा द्यूत विद्या में जीतता है ये जी कंपन है कपाता है अन्य को कपा देगा ऐसा है स्व अक्ष यही है वो अक्ष है कृत नाम का अक्ष जे अन्य को जीतेगा जो अक्ष स्व अक्ष तस्य कश्चित भाग हो अशब्द भाष्य उसका एक पासा है उसका कोई अशब्द से कहा गया उसको अशब्द का वाच्य है वो कश्चित भाग ऐसा शब्द का वाच्य है कृताय नाम का है तत्र यह चतुरो अंक उसमें चार अंक पड़े हुए हैं माने चतुर अंक माने चतारो भाग अंक माने भाग भाग चतवार चार भाग हैं उसमें उस पासे में माने चतवारो भाग माने भागस चतवारो अंक चिन्हानी माने अंक माने चिन्ह है वो चार चिन्ह है उसमें यदि व्युत्पत्ति ऐसा व्युत्पत्ति किया है <clears throat> चतुर में माने चतुरंग मैंने भाग चतवारो अंका चिन्हानी अश्विन ऐसा विग्रह है चार अंक है चिन्ह जिसमें ऐसा विग्रह कर चतुरंग बनाया उसको वित्पत्ति कृतनाम व्यवहित ने कृतनाम के द्वारा व्यवहार किया गया उसको कृतनाम व्यवहृत ना यदा द्वितीय प्रवृत्ता नाम तस्में बीजता या जुआ खेलने में हाँ, द्वितीय प्रवृत्ता नाम मध्य जुआ खेलने वाले के बीच में सकोपी जयती उस कृतनाम के पास को कोई भी जीत लेता है तदा तब तो क्या होगा तस्मय कृतनाम बते विजिताय अधनिया संबंधी समुद्र जो तो कृतनाम वाले के जीतने वाले के लिए हाँ, कृतनाम बते कृतनाम वाले के लिए विजिताय जब जीत लिया तो अधरिया समयंती सारे नीचे वाले उसी में सम्मिलित हो जाते हैं ये कहा तदर्थम व्याचस्त उसी का अर्थ कहते हैं तदर्थम इत्यादि का तदर्थम इतने द्वित्री एकांका अधरेया त्रेता द्वापर परिणाम समय इत्यादि भाषण में अधरयान व्याकरण नीचे वाले की व्याख्या करते हैं कौन अधरेया माने त्रेता द्वापर कलिनामाना इत्यादि अर्थ कर दिया तानेव विषय नष्टि उन्हीं की व्याख्या है अधरे का क्या व्याख्या है त्रेता द्वापर कलिनामाना इत्यादि व्याख्या है अक्षस्य इसमें इसमें भागे त्रयो अंका सत्रेता ये स्थिति है उस पासे के जिस भाग में तीन अंक होंगे चार अंकों वाला तो कृता हो गया वो और तीन अंक वाला जो होगा भाग वो हो जाएगा त्रेता एक यत्र अक्षस्य यस्मिन भागे त्रयो अंक सत्रेता नाम अयो त्रेता त्रेता नाम का अयो होगा वह जुआ खेलने के लिए वो जुआरी लोग जानते हैं उसको और यत्र तो दो अंक हो स द्वापर नाम का जहां दो अंक होगा जिस भाग में वो द्वापर नाम का अयो होगा द्वापर को जीता बोलेंगे दो अंक जीतेगा द्वापर को जीता बोलेंगे यत्र एको अंग सकली ही विभाग एक अंग वाले को कली नाम दिया है ऐसे विवाद करना तादर्थ में इतरांगा नाम अंतर्भाव उत्तम व्यक्ति करोगे कृतनाम के अय के लिए तादर्थ चतुर्थंत तो है उसके लिए उसके लिए अन्य अंकों का अंतर्भाव जो कहा उसको स्पष्टीकरण करते हैं चतुरंके इत्यादि भाषा में कहा चतुरंके कृता द्वित्री एकांक नाम विद्यमान चार अंक जो कृत नाम का है तीन अंक भी है दुई अंक भी है एक अंक भी है तद अंतर्भवंती इत्यादि कहा टीका में कहते हैं तद अंतर्भवंती माने तस्मिन कृते अंतर्भवती तद माने तस्मिन जो कृतनामक तस्मिन तद का अर्थ तस्मिन अंतर्भवंती कृतनामक आय में कृते त्रेतादय ते अंतर्भवंती त्रेतादि जो है ना ये सब अंतर्भूत हो जाते हैं इतिहावत कहा महासंख्यायाम अवांतर संख्या प्रभाव प्रसिद्ध महासंख्या में छोटी संख्या अंतर्भाव अंतर्भूत हो जाते हैं ये प्रसिद्ध है एवं इत्यर्थ कहा दृष्टान्त मनुद्य दाष्टान्त के महा ये तो दृष्टान्त हो गया और दाष्टान्त क्या है रैक के त्रेता के कृत के सामने रैक है और बाकी प्रजा जो करते हैं वो त्रेता आदि जैसे है उसी में प्रजा का किया हुआ साधु का रैको को मिला हुआ है जैसे कृत के आय को सभी अयम के फल मिला हुआ है इसी प्रकार यही दृष्टांतिक है दृष्टान्त अनुत्य मतलब दृष्टान्त के महा दृष्टान्त का अनुवाद करके अब सिद्धांत बताते हैं तात्पर्य क्या है यथा इत्यादि यथा अयम दृष्टान्त भाष्य में कहा जिस प्रकार ये दृष्टान्त हो गया एवं इसी प्रकार समझना एवं रैक्वम इस रैक्व को कैसा है रैक्व कृता स्थानीय है कृता एक स्थान में है त्रेतादि अयस्थानीय सर्वम तद अभिसमय समयती का त्रेतादि अयस्थानीय जितने भी हैं वो सब उसमें सम्मिलित हो जाते हैं अंतर्भवंती रहते कहा किम तद क्या है वो त्रेतादि स्थानीय यहां तब कहते हैं यदकिंच लोके सर्वा प्रजा साधु शोभनम में कुरंती तत्सर्वम रैक्वश धर्म धर्म अंतर्भवती यही आता है त्रेतादि स्थान में मान प्रजाओं के द्वारा किया गया शुभ कर्म ये है वो उसमें रैको के ज्ञान के फल में सब अंतर्भूत है हो जाते हैं ठीक है मैं कहा रैकोम अभिव्याप्य सर्वम समय थे रैको को व्याप्त करके ही वो सारे के सारे एक हो जाते इतिहास अर्थम संक्षिपति संक्षेप करते हैं अंतर्भवती बोल दिया सब अंतर्भूत हो जाते हैं रईक सर्वस्व अंतर्भाव प्रश्न पूर्वक सारे प्रजाओं के धर्म का फल रैको को मिलना है तो ये प्रश्न कैसे कैसे मिलेगा बहुत फल होगा इनके पास रईकुट को एक तरफ है बाकी सारी प्रजा का धर्म का फल एक तरफ होगा कैसे होगा ये प्रश्न है प्रश्न पूर्वक ये कथन करते हैं किम तत् इत्यादि भाषण में किम तत् कहा क्या है वो फल तब कहा यकिंच लोके सर्वा प्रजा साधु शोध प्रजा कुरबंती इत्यादि कहा था आगे कहते हैं तद धर्म से महत्वाद तस्य धर्म तद धर्म रैक्वश्च धर्म उस रैक्व का धर्म में महानता है ज्ञानी है वो तद धर्म से महत्वाद अन्य शाम हो जाते से अल्पत्वाद अन्य कर्म का फल अल्प होता है ज्ञान का फल बड़ा होता है वो तो व्यापकता में ले जाने वाला है ये परिचिन्न में ले जाने कर्म का फल स्वर्गादि तो देगा परिचिन्न देने वाला है ज्ञान का फल व्यापकता देने वाला है तब धर्म से महत्व तत्व से रैको को लेना तस्य धर्म तब धर्म उस रैको का धर्म महंत है महत्व होने से अन्य शाम जो प्राणी वर्ग के किया हुआ जो धर्म होगा धर्म जहां तस् अल्पत्व धर्म वर्ग अल्प है इसलिए इतर में अंतर्भाव है इसलिए उनका किया हुआ जो जितने भी धर्म होगा इतर अन्य इतरस्मिन अन्य में अश्विन अंतर्भाव इस रैको में के धर्म उसमें फल में अंतर्भूत हो जाता है कहा किंच सर्वेशा प्राणिनाम धर्मफलम अल्पी अस्वा सारे प्राणियों का धर्मफल अल्प है फल भी अल्प है धर्म भी अल्प है फल भी अल्प है अल्पी महत्तरे रैक्व से धर्म वो ज्ञान है रैको का धर्म धर्म का फल ज्ञान है ज्ञान रूपी फल है वो उसमें अंतर्भवती करते उसी में अंतर्भाव हो जाते हैं कहा तस्य च इत्यादि वास में कहा था तस्य च फले उस रैको के फल में सर्व प्राण धर्म फलम अंतर्भव ठीक है न केवलम रैको से इतना महात्मा खाली रैको का ये मिलता होगा महिमा हो नहीं अन्य भी जो उस व्यक्ति को जानता है उसको भी मिलेगा ये नहीं कि अन्य को नहीं मिलेगा रैको के समान साधना जो करेगा उसको भी वही मिलेगा ठीक है न केवलम रैको से इतना महात्मा रैको का ही ये महिमा नहीं किंतु अन्य से अन्य की भी हो सकती है महिमा ज्ञान ज्ञानवतो अस्थि अन्य भी कोई ज्ञानी हो तो उसको भी यही फल मिलना है जो रेक्य को मिला हुआ है ज्ञान श्रुति अनुग्रह वहां ज्ञान श्रुति के लिए कृपा करने के लिए रैक्य के पास जाएगा सुनेगा रैक्य उपदेश करेंगे माने एक जिज्ञासा उत्कंठा पैदा करने के लिए कहा ये बात यह ज्ञान ज्ञान श्रुतिर अनुग्रहार्थम ज्ञान श्रुति राजा को अनुग्रह करने के लिए बात बता दी कहा यस्तत वेद इत्यादि कहा था जो अन्य भी कोई उस वेद्य को जानता हो इत्यादि कहा तो ये कहा था तद वेद्यम अन्योपि वेद इत्यादि तथा अन्योपि कश्चित स्तर वेद्यम वेदा जो वेद्य है रही का विषय है वेद्य उसको जो जानता हो क्यों तब प्रश्न क्या है तो यद वेद्यम सदैव को वेद यद सवेद जिस वेद्य को रही को जानता है उसको अन्य भी जानता है तो वही फल मिलेगा उसको भी स्थिति थी तद वेद्यम तम अपनी सर्व प्राणी धर्म जातम तब फलम चरेकम अभिसमयती है ऐसे अनुवृत्ति होगी माने जो वेद्य वस्तु को रैक्यू के समान अन्य भी कोई जानता हो तो वही फल उसको भी मिलेगा ये कहा स एवं भूतो इस प्रकार जो रेक है विद्वान ये तो मया उगता है मैंने कहा हुआ विद्वान रेक ऐसा है ये कहा सएव कृताय स्थानीय होती प्राय वही कृताय स्थानीय होता है अन्य नहीं ये करके प्रशंसा होगी रैको की अब आगे <coughs> तदुह जान श्रुति पौत्राय उपश्रुश्राव सह संजिहान छत्तारमुवाच अंगारेह शैवानमिवरैकुमार्थेति यो न कथम सयुग्वारैक्वैति तदूह जान श्रुति पौत्रायण उपशुश्राव सह संज्ञान एव छत्तारमुवाच अंगारेह सयुग्वानम इवरैक्वमार्थेति यो कथम सयुग्वारैक्वैति तद हंसवाक्यम अभी तो हमसे की चर्चा चल रही थी आगे पीछे चलने वाली जो हमसे परस्पर तद माने हमसे वाक्यम वो हमसे वाक्यम ऊह के कोई अर्थ नहीं यहां जान श्रुति पौत्रायण हुआ जान श्रुति पौत्रायण छत के ऊपर थे हम सब उड़ रहे थे आपस में वाक्यों की हम सब परस्पर बातें चल रही थी हाँ, तद मैंने वाक्यम जान श्रुति पौत्रायण हुआ समीप में सुना जान श्रुति पौत्रायण ने वाक्य को सुना समीपे सुश्राव सुना सुतवान सह वो राजा संजिहाने जब निद्रा त्यागने पर अथवा बिस्तरा छोड़ने पर वहां गतव धातु है सम उपसर्ग है सानस प्रत्यय हुआ है सप्तमंद है संजिहाने आगे एकार है इसलिए वहां गतव वाहक का नहीं बनेगा वाहक परस्पर पद में होगा उसे सक्रिय होता है जहत बनेगा ये सानच है आत्मनिपदी है वहां वहां का तो है इसका ज्योत्यादि का धातु है ज्योत्यादि का तब तो जिहाना बना हुआ है संजिहाने माने निद्रा त्यागने पर अथवा बिस्तर त्यागने पर प्रातकाल जब सायकाल मैंने ये सुनाई पड़ा हंस के सुना था रात किसी तरह काटा राजा ने तो जब सुबह हो गया एवं छत्तारम उवाच अपने सेवकों को कहा सेवक को कहा छत्ता मैंने सेवक है उनका सारथी आदि जो भी है उनको कहा अंग अरे अंग मन हे वत्स प्यारा शब्द होता अंग अंग हे वत्स हे बेटा अरे संबोधन करके कहा अरे अंग हाँ। प्रसिद्ध है सयुगानम इव रैक्वम आखिर क्या मुझे तुम सयुगा रेखो के समान मानते हो ऐसा कहा अब वो समझाई नहीं क्या बोला राजा ने सुबह सुबह एकाएक हाँ, बोले सयुगा ने रैको में अर्थ क्या सयुगा रेको के समान कहते हो तो उस छत्ता ने पूछा मैंने उस सारथी ने पूछा यो न कथम सयुगा वो तो जो सयुगा रैको है वो कैसा है किस प्रकार है ऐसा पूछा तो उत्तर देंगे वही शब्द जो हमसे ने कहा था वही उत्तर राजा भी देंगे वैसे है बोला वो सही बार है तो ऐसा है अगले मंत्र में उत्तर देंगे <coughs> शायद मंत्र साथ में हाँ, साथ में यथा कृताय विजिताय अधरेय संयंती एवं एवं सर्व तद अभिशमयती యత్కించ ప్రజా సాధు కుర్వంతి యస్తద్వేద యత్సవేద సమయా ఏతదుక్త యథాకృతాయ విజితాయ అధరేయా సంయంతి ఏం ఏనం సర్వం తద్ అవిసమయితే యత్కించ ప్రజా సాధు కుర్వంతి యస్తద్వేద యత్సవేద సమయా ఏతదుక్త कुछ हंस ने जो बोला वही बोला तो आगे अग्रगाम में ने जो शब्द बोला था रेत को बारे में वही राजा ने वही बोला वो रेत को ऐसा है या छत्ता ने पूछा योग प्रथम हुआ रेख कही थी सेवक ने पूछा सारथी ने पूछा और सही रेख को कैसा है पूछा तो राजा बोलते ये है हुआ रेख जो हमसा वाक्य सुना था वो सुनाया जैसे कृपया जीत लेने पर सभी अयस पास से सब कब्जे में हो जाते हैं अंतर्भूत हो जाते हैं ठीक इस प्रकार इस रई को सारे प्रजाओं का कर्म का फल उनको मिल जाता है माने इनके विज्ञान इतना बड़ा इतना फल इतना बड़ा है यदि तो प्रजा साधु गुणवंती का अन्य को भी मिला ये देगा उस वृद्धि को अन्य भी जानता है तो वही फल मिलेगा जो रेप को मिला कौन यद सवेगा जो रेप को जानता है स रैक्वा मया ये तद होता है मैंने जो कहा हुआ रेक्वा ऐसा है ऐसा बता दू नष्ट हो गया तदुह तद एतद ईदृशम वो जो पूर्वोक्त वाक्य हंस वाक्यम तद का अर्थ हंस वाक्यम इस प्रकार के जो परस्पर हंसों का वाक्य हुआ था परस्पर चल रहा था वार्तालाप हंस आत्मा कुत्सा रूपम और अपने तो निंदा रूप में है वाक्य राजा राजा की निंदा हो रही है क्या तो सही पर रेखु के समान मान रहा है इसको हाँ, अब स्वयं की वह निंदा है ने उत्साह रूपम अन्य से विदुषो रैक्वाद प्रशंसा अन्य जो विद्वान है ज्ञानी है आदि की प्रशंसा क्योंकि ये कर्मकांडी राजा धर्मात्मा है वो ज्ञानी है तो ज्ञानी के सामने धर्मात्मा काम नहीं कर सकता स्थिति की है सर्वम परमाथलम पात्र ज्ञानी परिश्रमा स्थिति तो तब मारे वह जो ऊहा तदे तद ये दृशम हंसवाक्य इस प्रकार जो हंसवाक्य है आत्मा ना कुत्सार अपनी निंदा स्वरूप है वाक्य राजा आत्मा मने राजा स्वयं का और अन्य से विदुषण रैकुआदि अन्य जो विद्वान माने ज्ञानी हैं रैकुआदि उनकी प्रशंसा रूप उपस्थित अपनी निंदा और रैकुआदि बड़े ज्ञानियों की प्रशंसा रूप वाक्य को सुना हम सुन राजा ने सुना उपसुश्राव ने श्रुतवा सुना राजा ने कहा थे राजा जल धार्मिक तदस्थो राजा सत के ऊपर में थे राजा रात्रि का समय था राजा जानश्रुति पौत्रायण राजा जानश्रुति पौत्रायण उन्होंने ऐसा हंस वाक्य सुना जहां अपनी निंदा हो रही है और रैको की प्रशंसा हो रही है ऐसे वाक्य को सुना तत्व हंसवाक्यम स्मरण एवं उसी हंसवाक्य के चिंतन करते हुए राजा स्मरण एवं पौन पुण्य न रात्रि शेषम अतिबाहना बार बार उसी का चिंतन पौन पुण्य उसी हंसवाक्य का चिंतन वो राइको के बारे में कौन होगा राइको क्या होगा कहाँ होगा कैसा होगा रात्रि शेषम अतिवाहया आशा शेष रात्रि को किसी प्रकार से बिताया होगा तथा सब बंदी हुई राजा स्तुति युक्ता भी बाघ भी प्रतिबद्ध माने हाँ, तब उसके पश्चात राजा के क्या होता है प्रातकाल बंदी लोग आकर के उनका गुणगान करते हैं तो राजा उठते हैं राजा को उठाने के लिए गुणगान करते हैं तथा सब बंदी भी स्तुति युक्ता भी बाघ भी तो राजा प्रतिबुद्धिमाने है ऐसी स्थिति है सा राजा प्रतिबुद्धिमाने बंदी बंदी लोगों के द्वारा स्तुति युक्त वाणी प्रशंसा पूर्वक वाणियों के द्वारा माने जगाने पर सप्तमंत्र है प्रतिबुद्धिमाने राजा प्रतिबुद्धिमाने राजा को जगाने पर राजा जब जगे उवाचा जगते ही बोल पड़े राजा प्रतिबुद्धिमाने उवाच राजा जब जगा तो कहा छत्तारम माने सेवक को कहा जो सेवक है संज्ञाने व शयनम निद्राम व परित्यजम संज्ञाने व कहा संज्ञान माने क्या है निद्रा शयन माने बिस्तर आदि अथवा निद्रा को त्यागते हुए परित्यजन एवं हे अंग ऐसा बोल हे वत्स हे अंग संबोधन करके कहा अपने हे वत्स हे बेटा वत्स अरे हा सर्वान को मार्थ किम माम ये बात बोले जैसे आगे चलने वाले हम सब कहा था वही वही शब्द बोल पड़े क्या मुझे तुम सयुवा रेकू के समान मानते हो ऐसा कहा सयुवान विवरकुम अर्थ सयुवा रेकू जैसा मेरे को मानते हो क्या ऐसा कहा माने राजा का कहना है सैव स्तुत्य हम मुझे ऐसा मत समझना वही स्तुति का प्रशंसा का योग्य तो वही है मैं नहीं हूं क्या मुझे तुम स्वरूपारे को समान मान के स्तुति कर रहे हो नहीं बस स्तुति के योग्य नहीं स्तुति के योग्य तो वही है सदैव स्तुत्यर हो ना हम यदि अभिप्राय मैं स्तुति के योग्य नहीं हूं ये कहा अथवा यह भी हो सकता है स्वर्गवादम रैकुम अर्थ गत्वा मम तदृशम ये भी अर्थ हो सकता है शैवानम रैकुम शैवा रैको पास जा करके मम तदृक्षा अर्थ मेरी उसको देखने की इच्छा है जाकर के कहो ये भी अर्थ हो सकता है सयुगार है कोई पाया जा करके मेरी देखने की इच्छा ऐसा बताओ उसको ये भी अर्थ हो सकता है इसको को भी अर्थ का ये भी अर्थ है ये कहा अथवा दूसरी व्याख्या पहले भी क्या मुझे सयुगार रैकुम जैसा मानते हो पहला वाला था दूसरी व्याख्या अथवा सयुगानम रैकुम द्वितीयांत है सयुगा रैकु के पास जाकर तब दीक्षा दत्वा तब दीक्षा अर्थ मम तद दीक्षा अर्थ मेरी उसको देखने की इच्छा है दृष्टम इच्छा दृक्षा उसको देखने की इच्छा है कहो हम्म। उसके पास जाकर के मेरी देखने की इच्छा है ऐसा बताओ ये भी हो सकता है अब स्थिति में ईव शब्द का क्या अर्थ करेंगे दूसरी व्याख्या में आप पहले वाली व्याख्या में तो उसके समान मुझे मानते हो यह अर्थ आ गया दूसरी व्याख्या में ईव शब्द क्या होगा तदा इव शब्दों अवधारणार्थो अनर्थ होगा उसका मैंने द्वितीय व्याख्या में ईव शब्द जो होगा या तो यदगार के अर्थ में है या अनर्थक है उसमें ईवा लगता नहीं घटता नहीं जैसा आएगा नहीं इसमें यहां पे यही आया सही बार एक पास जा करके बोलो मुझे उनको देखने की इच्छा है तो ऐसा कहो ठीक है बाकी आएगा सच क्षत्ता प्रत्युवाचा उस सेवक ने पूछा फिर राजा से रैक को काम हो राज्यो अभिप्राय क्यों राजा का अभिप्राय को जानता है सेवक माने रईक को लाना चाहता है राजा रैक को रैक को आनयन काम हो रैक्तु को लाने की इच्छा वाला जो सेवक है राज्यों अभिप्राय क्यों राजा का अभिप्राय को जानता है और रैक्तु को लाना चाहता है चाहने वाला है सेवक ऐसा सेवक पूछता है न कथम सयुगा रैक्य थी जो आपने सयुगा रह के विषय में कहा वो रह को कैसा है ये प्रश्न हुआ सेवक ने कहा राजा एवं चौकते आने तुम तत्चिन्हम ज्ञातुम इच्छम राजा ने जब ऐसा बोला राज्ञा एवं उगते उगते राजा ने जब कहा कि सयुगवानम रैको में बात था क्या मुझे सयुगा रैको के समान मानते हो तो सेवक के मन में आएगी राजा उसको लाना उगते हुए कह रहे हैं उसको लाना है यही सोच करके राजा एवं चौकते इस प्रकार का राजा के द्वारा के माम सयुगवानम रैको में बात था ऐसा जो कहा था राजा ने तब आने तुम उस रहित्व को लाने के लिए तत्चिन्हम क्या तो उसके कोई चिन्ह चाहिए ना कहाँ है कैसा है क्या है कौन है उसके लक्षण जानने के लिए पूछा सेवक ने तत्चिन्हम क्या तुम इच्छन उसके चिन्ह को जानने की इच्छा उसके लक्षण जानने की इच्छा वाला सेवक है तो पूछता है न कथम संयुक्त आरय को अवचत उस सेवक ने ऐसा कहा वो संयुक्त आरय को कैसा है क्योंकि राजा पास लाना उसको राजा चाह रहे हैं उसको इसलिए कहा सच भल्लाक्ष वचन में वो सब मैंने राजा राजा ने कहा सही बारे के बारे में भल्लाक्ष ने जो कहा था वही कहा यथाकृताय बीजताय या समयंती इत्यादि वही वाक्य बताए ऐसा है रैक और बूढ़ो कहाँ है वो सारे प्रजाओं का कर्म का फल जिसके फल में अंतर्भूत होते हैं वो है ये पहचान यही दिया सारे प्राणी वर्ग का धर्म का फल जिसके फल में अंतर्भूत हो जाते हैं इतना बड़ा फल जिसके पास है वो रैपर है ये सिद्ध होगा तो यही होगा अच्छा ठीक है प्रतिबंध वचन खेद इतनो राजा प्राप्त हुआ जो वचन है मल्लाक्ष ने जो बोल दिया क्या तू इसको सही बार एक के समान मानता है राजा दुखी है मेरे को छोटा बना दिया अरे को बड़ा बना दिया प्रतिबंध अंश वचन तो इतलो राजा जो प्राप्त हुआ अंश का वचन है क्या सही हुआ है वैक्म याद था ऐसा बोला है उसने क्या सही हुआ के समान इसको मानते हैं तुम बिचारे को ऐसा कहा था हो राजा रात्रि शेषम अतिवाही बाकी रात्रि जब अंश वचन सुनने के बाकी रात्रि को बहन करके बिता करके शयनम जहत हाँ, यहां पर वहां का धातु का रूप है स्वयं को त्यागता हुआ आत्मना तुति करता आरम अपने पास राजा के पास करता आ गए उनको जगाने के लिए आत्मना समीपम अपने समीप स्थित जो तुति करता है उनको छत्तारम मन सेवकों छत्ता को सेवक को अंग अरे ह इत्यादि वाक्य मुक्तवान इत्यादि कहा ये अंग अरे इत्यादि वाक्य जो आगे है ये वाक्य बताया सभी वाले को अर्थ इत्यादि वाक्य कहा तस्य अभिप्राय आह मान राजा का अभिप्राय यही कहते हैं काशीकार बोलते हैं सएव स्तुत्य नाहम इति अभिप्राय अरे भाई तुम लोग क्यों मेरी स्तुति कर रहे हो जब बंदी आकर के स्तुति किया तो वो कहते हैं मेरी मैं स्तुति के योग्य नहीं हूं मैं तो निकृष्ट हूं हम सब आके सुना हुआ है वो है स्तुति का योग्य सही बात है सही स्तुति आप ना हम मैं नहीं हूं जब बंदीजनों ने स्तुति की राजा को उठाने के लिए प्रतिदिन स्तुति होती है उनको गुणगान करते हैं तब उठते हैं राजा ऐसा है ऐसे भगवान के लिए उत्तिष्ट उत्तिष्ट गोविंद उत्तिष्ट इत्यादि बोलते हैं उठाने के लिए क्या सुबह भगवान को उठाते हैं शयन कराते हैं उठाते हैं अच्छा कथम युवा शब्दों द्वितीय घटे दो व्याख्या कर दी ये जो शरीरवादम रैको विवाद था इत्यादि इस वाक्य का दो व्याख्या कर दी भाष्यकार ने पहले वाले में तो युवा शब्द घट गया शरीरवाद एक जैसा मुझे मानते हो तो हो गया दूसरी व्याख्या करेंगे जब अथवा तुम जा करके शरीरवाद को कहो मुझे देखने की इच्छा है ऐसा बोलो कहा तो युव शब्द क्या अर्थ आएगा ये कहते हैं प्रथम युवा शब्द द्वितीय घटे द्वितीय व्याख्या में युवा शब्द कैसे घटित होगा ये कहा तो उत्तर देते हैं तदा इव शब्द अवधारणार्थ हो अनर्थक इव शब्द या तो अवधारण के लिए है या अनर्थक है कहा अवधारण से अभी न उपयोग अस्ति ये प्रश्न आएगा अवधारण भी उपयोग नहीं यहाँ ये प्रश्न होगा तो कहते हैं अनर्थक होगा अनर्थक है शब्द ऐसा प्रश्न व्याचस्ते तो सेवक ने जो प्रश्न किया योन कथम सयुगा को ये प्रश्न है सेवक का उसी की व्याख्या करते हैं राज्ञा इत्यादि का राज्ञा एवं च उगते तो राजा के द्वारा ऐसा कहने पर क्या कहा राजा ने सयुगानम रैको में बात था ये जो वाक्य कहने पर क्या मुझे तुम सयुगा रेको के समान मानते हो कहते हो ऐसा कहने पर यही राजा का वाक्य राज्ञा एवं च उगते राजा के द्वारा इस प्रकार सयुगानम रैको में बात था ऐसा कहने पर आने तुम उसको लाने के लिए सेवक तत्चिन्हम ज्ञातुम उसके लक्षण जानना चाह रहा कौन है वो क्योंकि लक्षण से तो पता लगना है ढूंढना है उसको लक्षण क्या है तत्चिन्हम ज्ञातुम में उसके चिन्ह में लक्षण जानने की इच्छा करता हुआ सेवक पूछता है यो न कथम रही कोई सेवक ने कहा वो रही को कैसा है कोई लक्षण बताइए कहा सबसे भल्लाक्ष वचन हो जाएगा योनु कथम इत्यादि पूर्ववत व्याख्या है योनु कथम पूर्ववत व्याख्या माने पहले जो पीछे वाले अंश ने जो वाक्य पूछा था पहले वाले को योनु कथम संयुगार को जैसे कहा था उसने संयुगार जैसे अंश का वचन वैसे यहां भी माने सेवक का वचन भी वही उसी तरह व्याख्या करना पीछे वाले अंश ने आगे वाले अंश से जैसे पूछा था योन कथम सहयोग आरोग्य वैसे यहाँ भी शब्द है पूर्ववत व्याख्या वैसे व्याख्या करना ये कहा अच्छा आगे आगे मंत्र है साक्षरता अन्वीषणाविदमिति प्रत्ययाय तभोवाच ब्राह्मण ब्राह्मण से अन्वेषण तदेदम अक्षेती सहक्षेत्ता अन्वेषणाविदमित प्रत्यय तम होवाच यत्रारे ब्राह्मणस्यान्वेषणा तदेनम अर्चेति सहक्षेत्ता वो जो सेवक है राजा का सारथी है अन्विष्य ढूंढा जाकर के मैंने लक्षण मिला था क्या लक्षण है यथाकृत आय अधेरेया समयंती आदि जो हाँ। लक्षण यही है सारे कर्म का फल जिसमें समावेश हो जाता हो जिसके फल में वो है रई को ये लक्षण मिला हुआ है राजा ने यही उत्तर लक्षण कथम पास सही हुआ रैक को तो पूछने पर यही उत्तर दिया राजा ने कोई लक्षण लेकर के गया ढूंढने गया सारे कर्मों का प्राणी वर्ग का कर्मों का फल जिसके कर, ज्ञान के फल में अंतर्भूत होता हो वही तो रहित्व है यही लक्षण या पहचान है तो सह चेता अन्वेषण ढूंढा ऐसे व्यक्ति को ढूंढा उसने अन्वेषण किया अन्वेषण करके न अविदम इति प्रत्यय नहीं प्राप्त कर सका विद्रिलाभे धातु है लुंगल का उत्तम पुरुष वचन न अविदम न अविदम विद्रिलाभे क्योंकि विद धातु का तो अवेदेशम हो जाता है विद्रिलाभे धातु है नाविदम यदि प्रत्यय आया वापस आ गया वो प्रत्यय आया वापस आ गया तम हो बाच राजा ने उस सेवक को कहा जब वापस आ गया तो तम मन हो उचा राजा उच राजा ने कहा यत्र अरे यत्र ब्राह्मण से अन्वेषण जहां ब्रह्मविताओं के अन्वेषण ढूंढ खोज होता हो उस स्थान पर जाओ तुम उस शहर में कहीं घूम के आया था तो कहते हैं यत्र अरे अरे वत्स अंग यत्र ब्राह्मण से ब्राह्मण ब्रह्मविद ब्रह्मविद जो ब्रह्मविद्ता है उनका अन्वेषण तद एनम तद माने तत्र एनम अच्छा वहां जाकर के इनको ढूंढो ऐसा इनको ढूंढो जहां ब्रह्मविद्ताओं के अन्वेषण करते हैं लोग ढूंढते हैं ब्रह्मविद्ता कहाँ बैठे हैं ऐसे स्थान में ढूंढो जंगल में कहीं होगा वहां जाकर के ढूंढो ऐसा कहा राजा ने अच्छा भाष्य में कहते हैं तस्य स्मरण सहक्षेत्ता उस राजा के वचन को याद करता हुआ राजा ने कहा था यथा कृता बिजरा अधेरिया समयंती इत्यादि जो वाक्य बोला है तस्य माने वाक्य से राज्यो वाक्य से राज्य वाक्य का स्मरण उसके याद करते हुए तस्य यदि कर्मणी षष्टी कहा माने तम स्मरण होना चाहिए हाँ, स्मृत धातु का प्रयोग हो रहा है तो द्वितीयांक होना चाहिए था किंतु कर्तिकर्मणो कृति एक सूत्र है कर्ता में कर्म में षष्टि विभूति हो जाती है कृदंत के योग में कृदंत स्मरण शब्द है सत्रंत है इसलिए वहां षष्टि की हुई है द्वितीयांत द्वितीय अर्थ में उसका उसको याद करता होगा उस राजा के वचन को याद करता होगा तस् स्मरण सह चेता सेवक नगरम ग्रामम व क्योंकि जब राजा दोबारा बोलते हैं जहां ब्रह्मवेत्ता के अन्वेषण होता हुआ जाओ कहते हैं जंगल की बात बाद में आए तो पहले कहा गया नगर या गांव में ढूंढा उसने जाकर ये सिद्धांत हाँ जी अमीर आदमी सोचा था सभी का माल तो हाँ हो सकता है <laughs> हो सकता है तो तस्य तस्य माने उसको उस रैको को स्मरण उस राजा की वाणी को याद करता हुआ सहचेता वो सेवक नगरम ग्राम बागत्वा नगर या गांव में जाकर के अन्विष्य ढूंढा ढूंढ करके को रैको को ढूंढकर ना विदम इति न वैज्ञाशिषम इति प्रत्यय मैं जान नहीं सका करके वापस आ गया प्रत्यागतवान कहा तम हो वाचा छत्तारम राजा ने फिर उस सेवक को कहा तम छत्तारम वाच राजा अरे यत्र ब्राह्मण से ब्रह्मविद जहां ब्राह्मण मन ब्रह्मविद्ता ब्रह्मविद्ता का एकांत अरण्य नदी पुलिनाद एकांत में जंगल में नदी के किनारे आदि में पुलिन माने किनारा नदी पुलिन नाला ऐसे में होंगे वो नगर में गांव में नहीं होंगे वो हाँ। ऐसा कहा यत्र ब्राह्मण से मैंने ब्रह्म विदा जहां ब्रह्मवेत्ता का एकांत अरण्य नदी पुलिन नालो विविकते देशे एकांत देश में ऐसे काम अकेला निर्जन स्थान में अन्वेषण अनुमारण भवती ऐसे ढूंढा जाता है अन्वेषण होता है जहां ब्रह्मविद्ताओं के बारे में शहरों में गांव में थोड़ी जाएंगे वो अन्वेषण भवती तत् मान तत्र एवं रैकुम अर्चा मान रिच्छ गच्छ तत्र मार्गम कुरु वहां जा अन्वेषण वहां करो रिच्छ माने गच्छ रिच्छ गत धातु है गच्छ तत्र मार्गम गुरु वहां अन्वेषण करो वहां ढूंढो जा करके ऐसा कहा ठीक है हम कहते हैं तस्य कर्मणी ष्टी जो तस्य शब्द मान तम के अर्थ पर है वो कर्तिकर्मणों प्रति सूत्र है कर्ता में या कर्म में कृदंत के रूप में ष्ठी विभक्ति हो जाती है कृदंत या स्मरण सत्यंत है इसलिए ष्ठी विभक्ति हो गई कहा तो तस्य ये द्वितीयार्थन है ये बताया समय हो गया है मैं रखता ओमाप्यायम् सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् मां ब्रह्म निराकुर्या मामा ब्रह्म निराकरो निराकरणस्तु निराकरणमेस्तु ते मयि सन्तु ते